और वही है जिसने तुम्हें जमीन में एक दूसरे का जानशीन बनाया और तुम में से कुछ लोगों को दूसरों से दर्जात में बुलंदी अदा की ताकि उसने तुम्हें जो नेमतें दी हैं उनमें तुम्हें आजमाए यह हकीकत है कि तुम्हारा रब जल्द सजा देने वाला है और यह भी हकीकत है कि वो बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है